कृष्ण कहते हैं जब कोई संयम को उपलब्ध हो और भाव हृदय देश में स्थित हो जाए मन हृदय देश में ठहर जाए और प्राण मस्तक में ये दो बातें भाव अनुभव करने की जो प्रतीति है क्या कभी आपने ख्याल किया कि आप अनुभव कहां से करते हैं आकाश में पूर्णिमा का चांद है आप उसके नीचे खड़े हैं आंख उठा के आकाश को देखते हैं तो क्या आपका मस्तिष्क कहता है कि बहुत सुंदर या आपके हृदय के पास कोई स्फुरना होती यह आपको जांचना पड़ेगा और आप हमेशा पाएंगे सौ में निन्यानबे मौके पर कि यह मस्तिष्क ही है जो कह रहा है बहुत सुंदर और ये भी इसलिए नहीं कह रहा कि इसे बहुत सुंदर का अनुभव हो रहा है ये सिर्फ इसलिए कह रहा है कि इसने बार बार पूर्णिमा के दिन लोगों को कहते सुना है कि बहुत सुंदर किताबों में पढ़ा है कविताओं में पढ़ा है फिल्मों में देखा है नाटकों में सुना है बहुत सुंदर ये भी दोहरा रहा है एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह इसके मस्तिष्क में भर गए उसको दोहरा रहा है अगर इसे अनुभव हो तो मस्तिष्क में नहीं होगा हृदय में होगा और जब अनुभव होगा तो शायद आदमी शब्द भी न देना चाहे सुना है मैंने लाओस से एक साथ एक मित्र रोज घूमने जाता है सुबह मित्र का एक अतिथि भी साथ आ गया और दोनों से के साथ घूमने गए मित्र तो जानता है से को कि वो चुप ही रहना पसंद करता है वर्षों में कभी बोलता है लेकिन परदेशी अतिथि को कुछ पता नहीं दोनों को चुप देखकर वो भी काफी चुप रहा फिर एक भूल हो गई सुबह जब सूरज निकला और वृक्षों के ऊपर उठने लगा और पक्षी गीत गाने लगे और फूल खिल गए और सुगंध भर गई उस वन पथ पर तो उसने कहा कितनी सुंदर सुबह किसी ने उत्तर न दिया लाओस ने जरूर गौर से उसे देखा फिर चल पड़ा मित्र थोड़ा घबराया उसने जरा संकोच से अपने अतिथि की तरफ देखा वो भी चल पड़ा वो अतिथि थोड़ा हैरान हुआ किसी ने इतना भी ना कहा कि हाँ ठीक करते हो बड़ी सुंदर सुबह लौट कर लाओसे से ने अपने मित्र को कहा कल से इस साथी को मत लाना बहुत बातों नहीं मालूम पड़ता दो घंटे में उसने इतना ही कहा था बड़ी सुंदर सुबह उसके मित्र ने लाओसे के मित्र ने कहा ज्यादा बातूनी तो नहीं है ऐसा एक ही बात कही है लाओसे ने कहा लेकिन अगर उसे सुबह सुंदर लगी थी तो कहने का ख्याल भी ना आता अगर सुबह सुंदर लगी थी तो वो लीन हो गया होता वो भूल ही गया होता कि सुबह है वो खो गया होता उसे कुछ लगा मगा नहीं है सिर्फ आदत आसन सुबह सुंदर और फिर हमको भी तो पता था हम भी वहीं मौजूद थे उसने कह के सिर्फ सौंदर्य को बाधा पहुंचाई उस सन्नाटे में जहां पक्षियों के गीत थे और जहां सूरज की किरणें थी और सुबह की सुगंधित हवाएं थी उसकी ये बात बड़ी क्रूप थी और बेमानी थी और सन्नाटे को तोड़ती थी उस मौन को खंडित करती थी कि सुबह बहुत सुंदर ये वक्तव्य बड़ा असुंदर था अगली स्टेटमेंट निश्चित ही जब आपको कोई चीज सुंदर मालूम पड़ेगी बुद्धि ठहर जाएगी हृदय अनुभव करे हो सकता है हृदय की धड़कन बढ़ जाए हो सकता है रक्तचाप तेजी से हो जाए हो सकता है रोए खड़े हो जाए लेकिन ये प्रतीति हृदय की होगी ये ये बुद्धि की नहीं होगी लेकिन हमने हृदय से कुछ भी अनुभव करना बंद कर दिया हम सब बुद्धि से ही अनुभव किए जा रहे हैं और बुद्धि अनुभव करने में असमर्थ है वो उसका काम नहीं है संयमी व्यक्ति का भाव हृदय में स्थापित हो जाता है कैसे होगा स्थापित या तो संयम को उपलब्ध हो तो हो जाए या अगर भाव को भी हृदय में स्थापित कर ले तो भी संयम का मार्ग सुगम हो जाए तो जब भी अनुभव करें ख्याल रख के करें कि हृदय से अनुभव कर रहे हैं जब किसी से कहें कि मैं तुझे प्रेम करता हूं तो ये पहले मत कहें पहले हृदय के पास किसी सनसनी को दौड़ जाने दें कोई लहर और जब लहर हृदय को पकड़ ले तभी अगर जरूरी लगे तो कहें और अगर दूसरा बिना कहे समझ सकता हो तो चुप ही रहे उसे समझने का मौका दें अक्सर हम शब्दों से बताते नहीं छिपाते अक्सर जब प्रेम प्रेम चुक जाता है तब हम कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं ये केवल सब्सिट्यूट है जब प्रेम होता है तो इसे कहने की जरूरत नहीं होती आंखें कह देती है पलकें कह देती चेहरे का भाव कह देता है हाथ का इशारा कर देता है उठना बैठना कह देता है प्रेमी के पास आके बैठना कह देता है कि मैं प्रेम करता हूं लेकिन जब ये सब चुप जाता है तब सिर्फ शब्द रह जाते हैं कोरे और खाली चले हुए कारतूस जैसे जिसके भीतर कोई बारूद मारूद नहीं तब हम कहते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूं ये सिर्फ समझाना है सिर्फ समझाना मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे मुल्ला प्रेम करोगे या नहीं मुल्ला ने कहा बिल्कुल करूंगा जरूर करूंगा तेरे पैरों की धूल सिर पर रखूंगा फिर एकदम से कहा कि तू अपनी मां जैसी तो नहीं हो जाए इतने ख्याल रखना अपनी मां जैसी मत हो जाए ये जब उसकी पत्नी पूछ रही है तो वो बहुत बीमार पड़ी थी वो सिर्फ खोज रही फिर वो पूछती है उससे कि मुल्ला अगर मैं मर जाऊं तो सच सच कहो दूसरा विवाह तो नहीं करो मुल्ला ने कहा ऐसी बातें नहीं पूछा करते तेरी तबीयत ठीक नहीं है ऐसी बातें नहीं पूछा करते पर पत्नी पीछे पड़ गई तो मुल्ला ने कहा बड़ी मुश्किल है अगर मैं कहूं कि करूंगा तो कहना जचेगा नहीं और अगर कहूं कि नहीं करूंगा तो वो सच ना होगा कहते हैं कि मुल्ला किसी स्त्री को प्रेम का निवेदन किया था और उसकी उस प्रेसी ने पूछा था कि मुल्ला तुम ऐसे ऐसे पत्र लिखते हो कि मैं मर जाऊंगा अगर तू मुझे ना मिली क्या सच ही तुम मर जाओगे अगर मैं तुमने ना मिली तो मुल्ला ने कहा this has been my usual habit ये तो मैं सदा करता रहा हूं ये सदा की मेरी आदत जब भी किसी से मैंने प्रेम किया और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं फौरन मर गया उस स्त्री ने प्रेम नहीं किया मुल्ला से विवाह भी नहीं किया और कहते हैं मुल्ला ने अपना वचन निभाया यह भी सत्तर साल बाद मर गया सत्तर साल बाद लिख गया अपनी वसीयत में कि कोई ये ना समझे कि मैं झूठा हूं मैंने वचन दिया था अपने प्रेसी को कि अगर तूने मुझसे विवाह न किया तो मैं मर जाऊंगा और अब मैं मर रहा हूं सत्तर साल बाद हमारा सारा प्रेम प्रेम के दावे मर जाने के वचन आश्वासन कहीं भी हृदय से आंसू नहीं मांगे पड़ते सिर्फ बुद्धि का हिसाब किताब और जितना कम होता है हृदय बुद्धि से हमें उतना ज्यादा सब्सिट्यूट परिपूर्ण करना पड़ता है तो जितना कम प्रेमी उतना ज्यादा गुहार मचा रखता है कि मैं प्रेम करता हूं मैं प्रेम करता हूं मैं प्रेम करता हूं सच में जो प्रेमी है चुप होना भी काफी है और अगर चुप भी ना कह सके प्रेम को तो सब कभी भी नहीं कह पाएंगे भाव जब होता है तो रोआ रोआ कहता है उपस्थिति कहती है तो जब आप किसी के प्रेम में हो तो भाव को मौका दें बुद्धि के बीच में मत लाए जब आप प्रार्थना में हो तो भाव को मौका दें बुद्धि को बीच में मत लाए जब आप सौंदर्य को देख रहे हो सूरज निकला है फूल खिल गया है कोई आंखें हैं सुंदर है तब भाव को मौका दे बुद्धि को बीच में मत लाए भाव इतना ही कहेगा आंखें सुंदर है बुद्धि कहेगी इन आंखों को घर में कैद करने का कोई उपाय है या नहीं भाव इतना ही कहेगा प्यारा है फूल अनुभव करेगा बुद्धि कहेगी तोड़ो क्योंकि बुद्धि जहां भी प्यारा कुछ लगे उसको तोड़ना चाहती बुद्धि बहुत हिंसात्मक है अगर सच में ही किसी ने फूल को प्रेम किया है तो अनुभव मुश्किल है सोच पाना कि वो उसे तोड़ेगा कैसे लेकिन आप जब भी फूल को प्रेम करते हैं जो पहला काम आप करते हैं वो फूल को तोड़ने का अजीब प्रेम है अगर यही प्रेम है तो हत्या करना किसे कहते हैं जब भी फूल प्यारा लगता है तो पहला काम कि तोड़ो झटके से उसके जीवन को नष्ट करो उसका जो जीवंत रूप था हटाओ और एक मुर्दे फूल को खीसे में लगा के घूमो शायद फूल से आपको बिल्कुल प्रेम नहीं है शायद इस फूल को भी आप अपने अहंकार की शोभा और आभूषण बनाना चाहते हैं तो अगर कोई स्त्री मुझे सुंदर लगे तो कैसे जल्दी से अपने घर में कैद करूं ये बुद्धि का ख्याल है बुद्धि इसी भाषा में सोचती है भाव नहीं सोचता है भाव को अगर कोई सुंदर लगता है तो कारागृह में डालने का कोई सवाल ही नहीं अगर भाव को कोई सुंदर लगता है तो कारागृह में हो भी तो उसे मुक्त कर देने की कामना पैदा होगी अगर किसी को फूल सुंदर लगा है और जमीन पर पड़ा है तो वो उसे उठाकर कहीं पानी में रख देना चाहेगा कि थोड़ी देर और ज्यादा चिंता रह जाए भाव की प्रक्रिया अलग है भाव आपको कठिनाई में नहीं डालता लेकिन बुद्धि आपके ऊपर इतनी जोर से कस के बैठी है कि भाव बोल भी नहीं पाता कि बुद्धि अपने वक्तव्य देनी शुरू कर दे और भाव कह भी नहीं पाता कि क्या अनुभव हुआ बुद्धि योजना बनाने लगती है कि क्या करना चाहिए नहीं सौंदर्य का अनुभव बुरा नहीं है लेकिन सौंदर्य को कैद करने की जो बुद्धि है वो पाप है और अगर हम इस पृथ्वी पर किसी दिन भाव से जीना शुरू करें तो किसी के सौंदर्य को अगर आप सड़क पर खड़े होकर देखने लगे तो वो बुरा अनुभव नहीं करेगा नहीं करना चाहिए क्योंकि परमात्मा की देन को अगर कोई आनंद से देख रहा है तो हर्ज कहीं भी कुछ भी नहीं लेकिन अभी वो बुरा अनुभव करता है क्योंकि सबको पता है कि देखना केवल प्रारंभ है केवल शुरुआत एक लंबे नर्क इसलिए देखने के नियम है अगर मैं सरसरी नजर से आपको देखूं तो कोई ऐतराज नहीं अगर जरा समय से ज्यादा रुक जाऊं तो खतरा शुरू हो जाता है क्योंकि वो उतनी देर रुकने का मतलब है नजर उतनी देर रुकी उसका मतलब है कि अब मैं किसी कारागृह में डालने की योजना बना रहा हूं या किसी वासना की तृप्ति पर उतर आया हूं इसलिए हमारी आंख को भी हमें हिसाब में रखना पड़ता है किसको कितनी देर देखो हिसाब रखना पड़ता है अगर भाव कह भी रहा हो कि दो क्षण रुक जाओ शायद ऐसा सौंदर्य फिर दिखाई ना पड़े शायद परमात्मा की ऐसी कुशलता फिर दिखाई ना पड़े तो भी बुद्धि कहेगी कि इतनी ज्यादा देर रुके तो खतरा हो सकता है दूसरा भी सचेत हो जाता है दूसरा भी सचेत हो जाता है किसी को घूर कर देखिए घूर कर देखना ही बुरी बात है घूर कर देखने का मतलब ही बुरा हो जाता है हम तो कहते ही उस आदमी को लुच्चा है जो घूर कर देखता लुच्चा का मतलब सिर्फ होता है घूर कर देखने वाला और कुछ मतलब नहीं होता शब्द का लुच्चा आंख से बना शब्द है लोचन से जो आंख गड़ा के देखता है वो लुच्चा वैसे आलोचक का भी यही मतलब होता है वो भी जरा आंख गड़ा के चीजों को देखता है कि आप क्या कह रहे हो जरा आंख गड़ा कर देखता है क्रिटिक आलोचक आलोचक और लुच्चे में बहुत फर्क नहीं लुच्चा जरा गलत जगह लगा देता आलोचक जरा ठीक जगह लगा आंख को गड़ा कर देखना बुद्धि आ गई दूसरी तरफ भी आ गई इस तरफ भी आ गई और अड़चन शुरू हो गई भाव एक बच्चा अगर किसी सुंदर स्त्री को खड़े होकर देखता है तो उसे कुछ बेचैनी ना होगी क्योंकि अभी सिर्फ भाव भाव इनोसेंट है भाव बहुत निर्दोष है पवित्र है लेकिन यही बच्चा कल जवान हो जाए और यही घूम कर देखेगा तो कठिन हो जाएगा क्यों अब सिर्फ भावना रहा अब बुद्धि योजना बनाने लगी और वासना के उपयोग में आने लगी हैरान होंगे जानकर आप भाव वासना का जन्मदाता नहीं अगर शुद्ध भाव में कोई ठहर सके तो वासना तिरोहित हो जाती है वासना का जन्म होता है बुद्धि और वृत्ति के सहयोग से भाव और वृत्ति के बीच कभी कोई सहयोग नहीं होता बुद्धि और वृत्ति के बीच सहयोग हो जाता और बुद्धि रास्ता बताती है कि यह है मार्ग जाओ बाहर खोजो पाने का उपाय करो पालोगे ये ये विधियां हैं ये ये रीतियां हैं इस तरह चलोगे तो सफल हो जाओ और जब भी कोई व्यक्ति बुद्धि की मान पर चलने लगता धीरे धीरे भाव का केंद्र सो जाता और जिसका भाव का केंद्र सो गया वो चलती फिरती लाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं वो एक कंप्यूटर हो सकता है कि गणित का हिसाब लगा देता हो दफ्तर में काम कर देता हो दुकान चला लेता हो इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो कि वकील हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक सिर्फ कंप्यूटर है ये जो उसकी खोपड़ी कर रही है ये तो अब कंप्यूटर बहुत बेहतर ढंग से कर देगा कंप्यूटर आदमी में एक ही फर्क है कि कंप्यूटर अभी तक भाव नहीं कर सकता बुद्धि का तो सब काम कर देता है अगर आप भी सिर्फ बुद्धि रह गए हैं तो आप बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिए जाएंगे आप बहुत जल्दी गैर जरूरी हो जाएंगे और किसी किसी कबाड़ खाने में आपको उठा के रख दिया जाएगा क्योंकि आप महंगे भी हैं खर्चीले भी हैं नॉन इकोनॉमिकल भी हैं कंप्यूटर बेहतर है वो कम भोजन भोजन करता नहीं या बहुत कम भोजन करता है थोड़ी सी बिजली लेता है टूटता फूटता नहीं भूल चूक कभी नहीं करता और हजार आदमी जिस काम को कर सके लाखों घंटों में वो क्षण में कर देता है तो आदमी तो आउट ऑफ डेट है कंप्यूटर उसकी जगह आ जाएगा आदमी की बचने की एक ही संभावना है कि आदमी अगर अपने भाव के केंद्र को पुनर्जागृत कर ले तो ही कंप्यूटर से जीत सकता है अन्यथा जीतने का कोई उपाय नहीं और ध्यान रहे आदमी आदमी से लड़ता रहा ये एक बात थी पहली तरफ आदमी मशीन से लड़ेगा और मशीन से लड़के आदमी जीतेगा नहीं क्योंकि मशीन सब कुछ आपसे ज्यादा कुशलता से कर सकती सिर्फ एक काम मशीन नहीं कर सकती वो भाव लेकिन भाव हमारे पास नहीं भाव का हमें पता ही नहीं हृदय में हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि वो जो धड़कन होती रहती है वो भी हम तभी जानते हैं जब कोई बीमारी कोई अड़चन आ जाती लेकिन वो धड़कन तो सिर्फ फुप्पस है वो धड़कन तो सिर्फ पंपिंग स्टेशन की वजह से श्वास को खून को पंप कर रही है इसलिए धड़कन है वो हृदय नहीं है उस धड़कन के पास एक और धड़कन भी है जिसको नापा नहीं जा सकता वो भाव की धड़कन लेकिन भाव को फैलाएं मौका दें अवसर दें और धीरे धीरे भाव को केंद्रित करें तो वो संयम में सहयोगी बन जाता है या संयम हो तो वो भाव में सहयोगी बन जाता है साधना के जगत में सब चीजें अन्योन्याश्रित हैं इंटरडिपेंडेंट हैं कहीं से भी शुरू करें दूसरी चीज सहयोगी हो जाए और प्राण को मस्तक में प्राण से अर्थ है जिसे बर्गसन ने एलान वाइटल कहा है जीवन शक्ति कहा है भारत उसे सदा से प्राण कहता रहा प्राण है हमारे भीतर वो ऊर्जा जिसके सहारे हम जीते हैं और जब ये शरीर छूटता है तो शरीर से कुछ भी नहीं जाता सिर्फ प्राण चला जाता लेकिन वो प्राण अगर मस्तक में स्थापित होकर जाए तो परम गति को उपलब्ध होता है और अगर मस्तक में स्थापित न हो पाए तो जिस केंद्र पर स्थापित होता है उसी गति को उपलब्ध होता है परम गति कृष्ण किसे कहते हैं वो भी हम समझ लें परम गति उसे ही कहा है जिसके आगे फिर कोई गति नहीं है परम गति उसे ही कहा है जो अंतिम गति है द अल्टीमेट जिसके आगे कुछ भी नहीं इसलिए मोक्ष ही परम गति है या ब्रह्म उपलब्धि ही परम गति है निर्वाण ही परम गति बाकी सब गतियां परम नहीं है क्योंकि उनके बाद और गतियां होंगी और गतियां होंगी और यात्राएं और यात्राएं परम यात्रा तो वही है जिसके आगे फिर कोई मंजिल शेष नहीं रह जाता तो अगर प्राण इकट्ठा हो जाए भ्रुकुटी मध्य में तो फिर कोई दूसरी गति में मनुष्य को नहीं जाना पड़ता और जिस जगह केंद्रित होता है उस जगह से पता चलता है कि किस गति में आदमी जाएगा प्रत्येक व्यक्ति का प्राण शरीर के अलग अलग बिंदुओं से निकलता है सभी व्यक्ति एक ही बिंदु से नहीं मरते जिन व्यक्तियों का प्राण भूमध्य में इकट्ठा हो जाता है उनका प्राण सहसार से निकलता है आज्ञा चक्र में जिनका प्राण स्थापित हो जाता है तो आज्ञा चक्र से जैसे ही आज्ञा चक्र में प्राण का प्रवेश होता है कि जो अंतिम चक्र है हमारा सहस्त्रार द सेवेंथ उसे तोड़कर निकल जाता है इसलिए परम ज्ञानियों की अक्सर खोपड़ी भी टूट जाती है उस जगह से जरूरी नहीं कि टूटे ही अक्सर टूट जाती है लेकिन हमने इसलिए नियम बना रखा है कि जब किसी को मुर्दे को हम जलाने जाते हैं तो उसकी कपाल क्रिया कर देते हैं खोपड़ी फोड़ देते हैं वो खुद तो नहीं फोड़ पाए काफी देर पहले मर गए अब हम फोड़ रहे हैं मुर्दे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं लेकिन सूचक है इस मुल्क ने जाने हैं ऐसे लोग जिनके मरते वक्त अपने आप खोपड़ी टूट जाती है वो सूचना है कि वे परम गति को उपलब्ध हो गए अब हम दीनहीन गरीब लोग हैं मैं मर जाऊं और खोपड़ी अपने से न टूटे तो एक बेटे को अपने पीछे छोड़ जाता हूं कि तू मेरी खोपड़ी तोड़ दे मरने के बाद ये वैसे ही है जैसे मरने के बाद कोई दवा दे इंजेक्शन लगाया इस खोपड़ी तोड़ने का कोई भी अर्थ नहीं है ये बड़ी दीनता की सूचक है ये खबर दे रही है कि जो होना था वो नहीं हुआ अब हम मुर्दे के साथ एक खेल कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने ये रिवाज जारी किया उन्हें पता था कि कभी कभी कोई व्यक्ति उस उस छिद्र से भी प्राण को छोड़ता है उस छिद्र से तभी प्राण छूटता है जब प्राण भूमध्य में स्थापित होता है अन्यथा नहीं छूटता यही प्राण हमारी जीवन ऊर्जा है लाइफ एनर्जी है हम इसी के द्वारा गति करते हैं अगर भ्रूमध तक वो नहीं पहुंचा तो फिर कहीं से भी छूटे हमें दूसरे जन्म को ग्रहण करना पड़ेगा और जितने नीचे केंद्र से छूटेगा उतनी नीची गति में हमारी यात्रा होगी उतने ही निम्न मन और निम्न प्राण को और निम्न देह को लेकर हम फिर जीवन को चलाते हैं अक्सर अक्सर अधिक लोगों का प्राण काम केंद्र से ही छूटता है क्योंकि वही हमारा केंद्र है सर्वाधिक सक्रिय और जब काम केंद्र से हमारा प्राण छूटता है तो हम काम वासना से भरे हुए फिर नए जीवन में प्रवेश कर जाते काम वासना समस्त वासनाओं का आधार है मूल है फिर सब वासनाएं उसके साथ पुनः पैदा हो जाती और एक बार नहीं अनेक बार मर कर भी हम वही भूल करते हैं कि हम ठीक से नहीं मरते ठीक से मरना एक कला है ठीक से जीना तो एक कला है ही लेकिन ठीक से मरना भी एक बड़ी कला है हालांकि जो ठीक से जीते हैं वही ठीक से मर पाते हैं इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ठीक से जीना ठीक से मरने की कला का प्राथमिक चरण है शिखर और सेतु तो ठीक से मरना हाउ टू डाई राइटली सम्यक मृत्यु कैसे फलित हो कृष्ण उसी सम्यक मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं वो कहते हैं प्राण स्थिर हो जाए भ्रूमध्य में और ध्यान का कोई भी विधि का उपयोग करें प्राण भ्रूमध्य में स्थापित होने लगता है कोई भी ध्यान की प्रक्रिया करें भजन में लीन हो कि प्रार्थना में कि नमाज में कि मौन बैठे कि नाम स्मरण करें कोई भी उपाय करें जब भी ध्यान फलित होता है तो प्राण ध्रुव मध्य की तरफ दौड़ने लगते हैं वही ध्यान की सफलता का सूचक लक्षण है कि अब गुरु मध्य की तरफ ध्यान दौड़ना शुरू हो गया तो ध्यान सफल हो रहा है स्वीकृत हो रहा है प्रभु के मार्ग पर स्वीकृत होता जा रहा है जो पुरुष ऐसे क्षण में ब्रह्म को उच्चार करता हुआ मुझे चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है वह परम गति को उपलब्ध होता है ये बात थोड़ी समझनी पड़ेगी कि जो पुरुष ओम ऐसे अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चार करता हुआ इससे बहुत बड़ी भ्रांति होती है क्योंकि हम एक ही तरह का उच्चारण जानते हैं जो हम करते हैं हमें उस उच्चार का कोई भी पता नहीं जो होता है दैट विच हैपन्स हम ओम का उच्चार कर सकते हैं चेष्टा से लेकिन जो ओम का उच्चार चेष्टा से होगा वो हृदय तक नहीं जाता क्योंकि चेष्टा कंठ से नीचे नहीं उतरती कंठ से जो पैदा होता है वो कंठ तक रहेगा ओठ से जो पैदा होता है वो ओंठ तक रहेगा इसलिए इस तरह के उच्चार को आहत नाद कहा है आहत नाद का अर्थ है जो दो चीजों के टकराने से पैदा होता है दोनों ओठ टकराते हैं आवाज पैदा होती है जीव तालू से टकराती है उच्चार होता है कंठ की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं टकराती हैं उच्चार पैदा होता है एक तरह की ध्वनि हम जानते हैं जो आहतनाद है आहतनाद का अर्थ है दो चीजों के संघर्षण से पैदा हुआ शब्द ध्वनि कृष्ण जिस उच्चार की बात कर रहे हैं वो है अनाहत नाद अनाहत नाद का अर्थ है बिना दो चीजों के टक्कर के पैदा हुआ नाद हम ऐसे किसी नाद को नहीं जानते लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती ठीक कहते हैं ताली बजेगी तो दूसरा हाथ जरूरी ही होगा हाथ ना हो तो कोई दूसरी चीज जरूरी होगी लेकिन दूसरा जरूरी होगा एक हाथ से ताली बजाइएगा कैसे बजने के लिए दूसरा चाहिए संघर्ष चाहिए जगत में जितना नाद है सब आहत नाद है चाहे वृक्षों से दौड़ती हुई सरसराती हवा या सागर की लहरों की टक्कर चट्टानों से कि बांसों के झुरमुट में होती गूंज कि पक्षियों के गीत कि आकाश की गड़गड़ाहट कि आदमी की वाणी कि सितार पर गूंजता हुआ स्वर कि पानी की कलकल जो कुछ भी है इस जगत में सब आहतनाद है एक नाद ही है इस जगत में जो अनाहत वही ओम वही ओंकार लेकिन वो तब पैदा होता है जब भीतर सब संघर्ष बंद हो जाता इसे ठीक से समझ लें जब तक भीतर किसी तरह का संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट है तब तक आहत नाद ही होता है तब एक आदमी बैठकर अगर भीतर कहे ओम ओम तो वो आहत नाद है वो ओम नहीं है वो जो अपने से उच्चरित होता है जो गूंज उठता है प्राणों से और हम केवल साक्षी होते हैं कर्ता नहीं होते तो कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चार करता हुआ यहां कर्ता की तरह करता हुआ नहीं यहां समस्त अस्तित्व से ओम का उच्चार होता हुआ ज्यादा ठीक होगा कहना यहां सारी प्राण ऊर्जा ओम का उच्चार होती हुई ओम का उच्चार बनकर जब गतिमान होती है तो परम गति उपलब्ध होती है कभी अगर एक क्षण भी ऐसा अवसर मिल जाए जब भीतर कोई संघर्ष न हो पर मौन हो कोई शब्द न हो कोई स्वर न हो तब भीतर ही आंखों कानों को बंद करके सुनना क्या गूंजता है भीतर शीघ्र ही एक अनूठी ध्वनि सुनाई ध्वनि शुरू हो जाती जो कभी नहीं सुनी ओम तो सिर्फ उसकी कापी है समझाने को प्रतिलिपि है कार्बन कापी ओम से पता नहीं चलता सिर्फ सिर्फ इशारा है जो गूंज वहां अनुभव होती है वो करीब करीब ऐसी है जैसा ओम के उच्चार से मालूम पड़े पर वो ठीक ऐसी नहीं है निकटतम अप्रोक्सीमेटली ऐसी है इसलिए अनेक लोगों ने उसे अनेक तरह से समझा हिंदू ओम के उच्चार को समझे हिब्रू यहूदी मुसलमान उसी को आमीन की तरह समझे वो ओम जो हमने ओम समझा वो भीतर की ध्वनि को सूफियों ने समझा अमीन वो अमीन भी जैसा सुनाई पड़ सकता उसमें कोई कठिनाई नहीं ये दो ही शब्द हैं इस समय जमीन पर अमीन और ओ आधी आधे धर्म दुनिया के अमीन के ख्याल में है आधे धर्म दुनिया के ओम के भारत में जो धर्म पैदा हुए वो सब ओम के ख्याल में है और उस ख्याल में कोई और कारण नहीं है जब हमें पता है कि ओम तो जब हमें पहली दफे वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो ओम जैसी सुनाई पड़ेगी जिनको पता है अमीन उन्हें अमीन जैसी सुनाई पड़ जाएगी लेकिन वो ध्वनि ये दोनों ही केवल फीकी प्रतिध्वनियां उस ध्वनि की स्मृति से बुद्धि से समझा गया उच्चार वो इन दोनों से भिन्न और दोनों से मिलती जुलती है उस ध्वनि को अनाहत कहा है क्योंकि वो बिना किसी चीज से टकराए पैदा होगी वो अस्तित्व की ध्वनि है वो अस्तित्व के होने से ही पैदा हो रही है इस ध्वनि को उच्चार करता हुआ जो पुरुष मेरे चिंतन में रमा शरीर को त्याग कर जाता है हम शरीर को त्याग नहीं करते हमें शरीर त्याग करना पड़ता है बड़ी मजबूरी में बड़ी व्यवस्था में बड़ी मुश्किल से छीना झपटी होती है हमसे आपने कथाएं पढ़ी होंगी कहानियां कहती हैं धर्मगुरु समझाते हैं वे कहते हैं कि जब मौत आती है तो मौत के यमदूत आते हैं और बड़ी जोर जबरदस्ती करके आत्मा को छीन के ले जाते हैं उल्टी है ये बात कोई छीन के आपको नहीं ले जाता आप ही शरीर को इतने जोर से पकड़ते हैं कि छीना झपटी हो जाती प्राण जाना चाहते हैं कोई उस तरफ से नहीं खींचता आपको किसी को खींचने की जरूरत नहीं है प्राण जाना चाहते हैं वक्त आ गया समय चुक गया शरीर व्यर्थ हो गया और आपका मन छोड़ना नहीं चाहता आप पकड़े नाव छूट चुकी उसका इंजन दौड़ने लगा और आप किनारे को पकड़े हुए हैं तो जो छीना झपटी होती है वो उस तरफ से नहीं इसी तरफ से होती है हमारे द्वारा होती हम शरीर को फिर भी पकड़े रहना चाहते हैं फिर भी चीखते चिल्लाते हैं और बच जाए एक क्षण और मिल जाए एक श्वास और ले लू हम त्याग नहीं कर पाते शरीर का अभी बहुत मजे की बात है ना हम भोग कर पाते ना हम त्याग कर पाते क्योंकि अगर भोग ही कर लिया हो तो त्याग त्याग करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि जिस चीज को हम भोग लेते हैं उसे छोड़ने की तैयारी हो जाती है हम्म, जब पेट भर जाता है तो आदमी खाली छोड़ देता है लेकिन जिंदगी भर शरीर में रहकर भी भोग भी नहीं कर पाते कि खाली छोड़ सके जब वक्त आए छोड़ने का तो हम कह सकते हैं भर गया पेट न हम भोग कर पाते न हम त्याग कर पाते हम बड़े अजीब लोग जब भोग का समय होता है तब हम भोग को पोस्टपोन करते हैं कल कर ले इंतजाम पहले कर लें फिर भोग कर लें फिर इंतजाम में जिंदगी चुक जाती फिर मौत सामने आ जाती त्याग का वक्त आ जाता लेकिन अभी हमने भोग ही नहीं किया तो त्याग कैसे करें तो पकड़ने की चेष्टा चलती ध्यान रहे अगर कोई आदमी विवेक पूर्वक बुद्धिमानी पूर्वक होश पूर्वक भोग कर ले तो त्याग करने में कठिनाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पकड़ने की आकांक्षा शेष रह जाए सिर्फ अज्ञान ही पकड़ा सकता है और भोग न कर पाने के कारण त्याग की क्षमता नहीं हो पाती भोग करें और ठीक से भोग कर लें और होश पूर्वक भोग कर लें और देखें कि शरीर क्या दे सकता है और जान लें कि शरीर से क्या मिल सकता है जल्दी ही आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि शरीर से कुछ भी मिलने वाला नहीं है अगर कुछ खोजना है तो किसी और दिशा में खोजना पड़ेगा फिर शरीर को छोड़ने में कठिनाई नहीं होती और जिसको ये प्रतीति हो जाए कि शरीर से कुछ मिलता नहीं कुछ मिलेगा नहीं वो तत्क्षण तत्क्षण शरीर को त्यागने को तैयार हो सकता है और मृत्यु तब जब आए तो वो सह स्वीकार कर सकता है कि ठीक है आ जाओ मैं तो तैयार ही था इस शरीर को मैं देख चुका इसमें कहीं कुछ भी नहीं है जो पाने योग्य है और कहीं भी कुछ भी नहीं है जिसे खोने का कोई भय हो मैं शरीर को देख और जान चुका हूं ऐसे व्यक्ति को संयम भी आसान हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को अंतिम क्षण में शरीर का त्याग भी सरल हो जाता है शरीर को त्याग कर जाता है ऐसा जो पुरुष वो परम गति को प्राप्त होता है परम गति यानी जिसके आगे फिर और कोई गति नहीं जहां से लौटना नहीं जिसके आगे जाना नहीं शब्द बड़ा अद्भुत है गति का तो मतलब होता है मूवमेंट गति का अर्थ होता है मूवमेंट चलना बदलना परिवर्तन परम गति का क्या मतलब होगा वहां तो कोई चलना नहीं होगा कोई मूवमेंट नहीं कोई जाना नहीं कोई आना नहीं परम गति शब्द कंट्राडिक्टरी है विरोधी असल में परम कहना और गति कहना दो विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग करना कहना भी अल्टीमेट मूवमेंट मूवमेंट कभी भी अल्टीमेट नहीं हो सकता क्योंकि गति का अर्थ ही होता है कि वो अभी किसी तरफ हो रही है गति का अर्थ ही होता है कि अभी हो रही है तो जिस तरफ हो रही है वहां होगा अंत अभी अंत नहीं हो गया गति स्वयं में कभी अंत नहीं होती अंत कहीं आगे होगा जिसकी तरफ गति होती परम गति विरोधी शब्द है लेकिन जीवन में जितने गहरे सत्यों का उद्घाटन करना हो उतने विरोधी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता और इसलिए संतों की वाणी निरंतर कंट्रडिक्शन से विरोधों से असंगतियों से भरी होती असल में संत बोल ही नहीं सकता बिना कंट्राडिक्ट किए संत बोल ही नहीं सकता और अगर कोई बोलता हो तो उसे सत्य का कोई पता नहीं होता सत्य को बोलने का मतलब ये है कि आपको विरोधी शब्दों का एक साथ प्रयोग करना पड़ेगा उपनिषद कहते हैं दूर से भी दूर और निकट से भी निकट है वो या तो कहो दूर से भी दूर रुको या कहो निकट से भी निकट और ठहरो कृपा करके दोनों तो एक साथ मत कहो कि दूर से भी दूर वो और निकट से भी निकट कंट्रडिक्शन का तो उपयोग मत करो लेकिन कोई उपाय नहीं ऐसा ही है वो पास भी इतने कि उससे ज्यादा पास कोई नहीं और फिर भी अनंत अनंत यात्रा करके भी उस तक पहुंच ना पा गए दूर से भी बहुत दूर शायद इसीलिए बहुत दूर है कि बहुत पास है इतने पास है कि चलने का मौका नहीं मिलता कि कैसे चल के उसके पास पहुंचे जरा दूर हो तो आदमी चल के भी पहुंच जाए बहुत पास हो तो चल के कैसे पहुंचे मुला नसरुद्दीन एक जगह काम करता है दफ्तर उसके घर के सामने है लेकिन रोज ही वो देर पहुंचता है लेट लतीफ रोज ही आखिर एक दिन मालिक के बर्दाश्त के बाहर हुआ उसने कहा नसरुद्दीन सीमा भी होती है किसी बात जो आदमी छह मील दूर रहता है वो ठीक दस बजे आ जाता है और तुम दफ्तर के सामने हो और तुम कभी भी ठीक वक्त नहीं आ पाते नसरुद्दीन ने कहा उसका कारण because I am so near इतने निकट उसके मालिक ने कहा ये कैसा कारण समझ में नहीं आया तो नसरुद्दीन ने कहा कि इस आदमी को अगर देर हो जाए तो जल्दी चल के देर की कमी कर लेता मुझे देर हो जाए तो कितनी जल्दी चलो कोई फर्क नहीं देर हो ही गई इस आदमी को मौका है छह मील का फासला ही can make up I can not make up घर से निकलेगी दफ्तर मेकअप करने की थोड़ी जगह नहीं है इसलिए हम रोज लेट हो जाते बहुत करीब हो तो चूक सकता है क्योंकि ख्याल में ही ना आए आंखें दूर देखती पास देखने में सभी आंखें अंधी जितने पास हो जाए दिखाई नहीं पड़ता इस आंख को पास पास पास आंख के जितने पास ले आओ उतना ही दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता फिर बिल्कुल आंख से लगा लो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता और वो आंख के भी पीछे तो कठिन हो जाता परम गति भी विरोधी शब्द है कंट्रडिक्शन इन टर्म्स गति परम नहीं हो सकती और जो परम है वहां कोई गति नहीं हो सकती लेकिन फिर भी सार्थक है क्योंकि हम गति को ही पहचानते हैं हमने बहुत गतियां की हैं न मालूम कितनी योनियों में भ्रमण किया है न मालूम कहां कहां गतिमान हुए हमें तो एक ही पता है गति और गति और गति कृष्ण कहते हैं वो परम गति को उपलब्ध हो जाता है और परम गति अर्थात आखिरी गति को जिसके आगे और कोई गति नहीं जहां सब ठहर जाता है परम गति का अर्थ है जहां सब ठहर जाता है जहां कंपन भी नहीं लहर भी नहीं जहां कोई मूवमेंट नहीं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वहां मृत्यु है ये जो ठहराव है ये जो स्थिरता है परम जीवन है लेकिन बिना गति और गति का जो जीवन है वो तो घिस जाएगा और गति में जो जीवन है वो आज नहीं कल गलेगा सड़ेगा टूटेगा डिटोरेट होगा लेकिन परम जीवन तो वही हो सकता है शाश्वत जहां कोई गति नहीं क्योंकि गति में चीजें मिट जाती हैं हम सब गति में ही मिटते हैं इसलिए सत्तर साल में शरीर घिस जाता है घिस जाता है इसका मतलब एक सत्तर साल गति कर ली सब तरह से मन को दौड़ाया इंद्रियों को दौड़ाया पैरों को चलाया सब चले सत्तर साल में सब घिस जाता है शरीर छूट जाता है फिर दूसरा शरीर पकड़ना पड़ता है उस परम स्थिति में जहां कोई गति नहीं शरीर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वहां कोई गति नहीं शरीर गति का यंत्र वहां तो वाहन इसलिए वो स्थिति अशरीरी है और परम है क्योंकि उसके पार उसको ट्रांसेंड करने वाला और कुछ भी नहीं और हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में चित्त हुआ सदा ही स्मरण करता है मुझे उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं अंतिम बात कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं अति सुलभ हूं ये भी विरोधाभास है क्योंकि परमात्मा तो अति दुर्लभ है खड़क की धार पर चलने जैसा बड़ा मुश्किल है लाखों चलते हैं एक पहुंच पाता है बड़ा कठिन है लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे चित्तवान व्यक्ति को जो सतत मेरे स्मरण में डूबा हुआ भाव जिसका हृदय में आ गया प्राण जिसका प्रकृति में और इंद्रियां जिसकी संयम को उपलब्ध हुई और जिसके भीतर अनाहत के नाद की हुकूम शुरू हो गई है ऐसे व्यक्ति को मैं अति सुलभ हूं मुझसे ज्यादा सुलभ और ऐसे व्यक्ति को कोई और चीज नहीं परमात्मा दुर्लभ है अगर आप उलझे हुए हैं परमात्मा बहुत सुलभ है अगर आप सुलझे हुए सब निर्भर करता है आप पर परमात्मा पर नहीं जटिलता है आपकी तो परमात्मा बहुत दुर्लभ है और आप पीठ किए खड़े हैं सूरज की तरफ तो सूरज का कोई कसूर नहीं है और आप कितने ही चलते रहे पीठ किए आप कभी भी सूरज का दर्शन न कर पाएंगे क्योंकि जो आंखें पीठ किए हैं वो कितने ही चले कितने ही चले सूरज के दर्शन का कोई सवाल नहीं और एक कदम वापस लौटे लौट कर देखें और एक कदम भी फिर चलने की जरूरत नहीं सूरज आंख के सामने परमात्मा ऐसा ही सुलभ और दुर्लभ है अगर पीठ किए रहे उसकी तरफ तो अति दुर्लभ है कितने ही दौड़े जन्मों जन्मों नहीं मिलेगा और लौटे ऊर्जा को लौटाने में भीतर संयमित हो ध्यान को उपलब्ध हो समाधि को पाए समाधि ध्यान कुछ और नहीं जस्ट ए टर्निंग लौटना ए अबाउट टर्निंग चित्त का लौट आना स्वयं पर और आप इसी वक्त उपलब्ध हो जाते हैं इसी क्षण भी उपलब्ध हो सकते हैं बहुत सुलभ सब आप पर निर्भर है इट डिपेंड्स ऑन यू लेकिन हम बड़े होशियार और तो मंदिर के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूं मुझसे क्या होगा तू ही कुछ करवा लेना और अपने पाप में लौट के बड़ी कुशलता से लग जाता अगर हम परमात्मा को परम दयालु भी कहते हैं तो इसलिए नहीं कि हम मानते हैं वो परम दयालु सिर्फ इसलिए कि इसमें हमें सुविधा है उमर खयाम ने मजाक में कहा है मौलवी ने रोका है उसे कि शराब पीना बंद कर खयाम तो खयाम कहता है कि हम तो पीते ही रहेंगे क्योंकि हमें उस रहमान की रहमत पर भरोसा है उस परम कारुणिक पर हमें पूरा भरोसा है तू आस्तिक है तू आस्तिक कैसा है नास्तिक है मौलवी से खयाम कहता है अपनी शराब की प्याली हाथ में लिए कि तू नास्तिक है हमें तो उसका भरोसा है उसकी उसकी करुणा अपार है और हम क्या खाक पाप किए महान करुणा के सामने हम कितने ही पाप करें सब क्षमा है ये उमर खयाम हम सब पर मजाक कर रहा है हम सब ऐसे ही नहीं वो सुलभ होगा तभी जब हम उसकी ओर उन्मुख हों वो दुर्लभ रहेगा तब तक जब तक हम विमुख हैं विमुखता ही उसकी दुर्लभता और हमारी उन्मुखता ही उसकी सुलभता हो जाती आज इतना ही पर भी कोई उठेगा नहीं पांच सात मिनट उन्मुख होने की कोशिश कर ले कौन जाने इन्हीं पांच सात क्षणों में कुछ घटित हो जाए कोई जाएगा नहीं कोई उठेगा नहीं कीर्तन भी बैठकर ही सन्यासी करेंगे आप भी सम्मिलित हों